प्रतिबोध विदितम मतम बोधम बोधम प्रति विदितम बोध शब्द से बुद्धि के प्रत्यय ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान रूप रस ज्ञान प्रत्यय प्रत्यय ज्ञान अंतकण वृत्ति है वृत्ति अंतकण का कार्य परिणाम होने से जड़ है तो भी चैतन्य के संबंध से प्रकाश करती वृत्ति घट को और सब प्रत्यय को विषय करता है आत्मा सर्व प्रत्यय विषयी भवंती यस्य सारे वृत्ति का साक्षी है सर्वबोधान प्रतिबुद्धते सब प्रत्यय को जानने वाला प्रकाश करने वाला सर्व प्रत्ययदर्शी जिसको कहा मन का भी मन चित सत्य स्वरूप मात्र प्रत्ययरव प्रत्ययसु अविशिष्टतया लक्ष्यते प्रत्यय से लक्षित होता है प्रत्ययसु अविशिष्टतया टीका में दिया प्रत्ययसु अविशिष्टतया अनुगत रूपेण इत्यर्थ प्रत्यय के साथ अनुगत होकर के सब प्रत्यय में संबंध होकर के प्रत्यय भिन्न भिन्न है वृत्ति भिन्न भिन्न है किंतु अविशिष्ट का तो समान है प्रत्यय भिन्न वृत्ति भिन्न भिन्न होने पर भी चेतन अविशिष्ट है समान है अनुगत है एक रूप से साक्षी आत्मा सारे भिन्न भिन्न प्रत्यय में एक रूप से अनुगत रूप से लक्षित होता है घट मठ करक आदि उपाधि के भेद होने पर भी आकाश एक रूप है विषय घटपट आदि भिन्न होने पर भी प्रकाश करने वाले प्रकाश समान रूप से सबको प्रकाश करता है सबके साथ प्रकाश तो प्रकाश एक रूप है प्रकाश से वस्तु भिन्न भिन्न है वृत्ति घट ज्ञान पट ज्ञान अलग-अलग वृत्ति भिन्न भिन्न होने पर भी वृत्ति का जो प्रकाशक है अनुगत ज्ञान चिद रूप एक ही है प्रत्यय सब प्रत्यय में समान रूप से अनुगत होकर के एक रूप से रहता है अविशिष्टतया लक्ष्यते भाष्य में नान्य द्वारम आत्मन विज्ञानाय आत्म को जानने के लिए और कोई उपाय नहीं है इसी प्रकार प्रत्यय के साक्षी रूप से सारे प्रत्यय में एक अनुगत एक रूप से स्थित है जैसे घटो अस्थि पटो अस्थि मठो अस्थि सब में अस्थि अस्थि करके सदरूप आत्मा है इसी प्रकार पूर्ण रूप से सारे प्रत्यय में स्थित है ब्रह्म आत्मा अतः सर्व प्रत्येगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन्मतम तद सम्यक दर्शन सारे प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येगात्म प्रत्येक स्वरूप वास्तव स्वरूप अधिष्ठान प्रकाशक साक्षी चिद रूप इस रूप से ज्ञान तो यदि होता है तो वही सम्यक ज्ञान है टीका में येन चित स्वरूपेण अहमत्र साक्षी तस्य सर्वत्र अविशेषात नैकस्मिन्नेव देहे अहम साक्षी भेद उत्पत्ति आदिनां च साक्ष्यगतत्वेन साक्षिण एकत्व नित्यत्वादिकम अपि सिद्ध्यति त्याह येन चित्त स्वरूपेण अहम अत्र साक्षी जिस चित्त स्वरूप स्वरूप अभिन्न होकर के चित्तस्वरूपेण स्वरूपेण ये अभेद में तृतीय है चित्तस्वरूप स्वरूप से मैं साक्षी हूँ चित्त स्वरूप होकर के मैं यहाँ साक्षी अपने अंतकरण में जितने प्रत्यय सब का साक्षी मैं हूँ वही साक्षी सर्वत्र अविशेषात एक ही साक्षी सर्वत्र है चिद्रूप चेतन में कोई अवयव अवयवी भाव नहीं है एक ही चेतन है जिस प्रकार एक शरीर में एक चेतन है हाथ में अंगूठी में छाती में मुख में अलग-अलग नहीं है एक ही जैसे आकाश सब घटपट आदि घटमठ आदि में है इसी प्रकार सर्वव्यापक चिद्रूप साक्षी एक है सर्वत्र विशेष सब प्रत्यय का साक्षी है नैकस्मिनेव देह हम साक्षी एक देह में भी प्रत्यय का साखी ऐसा नहीं सारे प्रत्यय का सर्व प्रत्यय का साक्षी है सारे सर्व में जितने ज्ञान सब के अंतकण में सब को प्रकाश करने वाले साक्षी है कि किंतु देह भिन्न भिन्न है वृत्ति भिन्न भिन्न है ज्ञान भिन्न भिन्न है ज्ञान की उत्पत्ति होती नाश होता है ये जितने सब भान होते हैं भेद उत्पत्ति आदि नाम से साक्ष्यगतत्वेन साक्ष्य दृश्य वृत्ति उसमें वृत्ति की उत्पत्ति है वृत्ति में भेद है जिस प्रकार एक प्रदीप के द्वारा प्रकाशित घट आदि वस्तु भिन्न भिन्न है कोई घट नष्ट हो गया कोई घट छोटा कोई बड़ा कोई घट कोई अन्य वस्तु भिन्न भिन्न वस्तु सबका प्रकाश साक्षी दीप के सामने दीप है इसी प्रकार यहाँ भी सारे वृत्तियों का साक्षी है चिद रूप आत्मा और जो भेद दिखता है जैसे घट में भेद घट का भेद है प्रकाश का भेद नहीं इसी प्रकार भेद उत्पत्ति उत्पत्ति आदि से नाश ज्ञान की उत्पत्ति होती ज्ञान अनष्ट हो गया तो ये जो उत्पत्ति नाश है साक्षी में नहीं साक्ष्य में दृश्य में साक्ष्य है साक्षी है चिद रूपात्मा साक्ष्य हो गया वृत्ति वृत्तिगत है भेद उत्पत्ति वृत्ति में भेद है उत्पत्ति नाश भी वृत्ति में है साक्षी में नहीं एक ही साक्षी है एक दीप जिसे सब प्रकाश करता है सब दृश्य हो एक सूर्य सारे पदार्थ को प्रकाश करता है इसी प्रकार एक ही साक्षी सब प्रत्यय को प्रकाश करने वाला एक है एकत्वम एक ही है और वृत्ति की उत्पत्ति नाश होने पर भी साक्षी की उत्पत्ति नाश नहीं घट दीप प्रकाश है स्थित कोई घट ला कर रखा तो प्रकाशित हुआ घट को ले गया तो भी दीप प्रकाश थे सूर्य प्रकाश है सूर्य में आप जाओ तो धूप आपके शरीर में लग गया नहीं जाओ तो सूर्य अस्त हो जाएंगे सूर्य तो प्रकाश है ही कोई वस्तु रहे तो प्रकाश करे नहीं तो नहीं इसी प्रकार दीप प्रकाश है वो एक ही है प्रकाश से वस्तु भिन्न भिन्न होने पर भी एक है इसी प्रकार साक्षी एक है और नित्य है वृत्ति की उत्पत्ति नाश होने पर ही साक्षी नित्य है ये बहुत सिद्ध हो जाता है तो वहाँ सारे प्रत्यय का साक्षी है सुख दुख का अनुभव करता है साक्षी प्रकाश करता है तो सारे प्रत्यय का साक्षी यदि एक आप है सब के सुख दुख का अनुभव आपको होना चाहिए एक ही यदि आत्मा है सब प्रत्यय का अनुभव करता है आपके अंतकण में सुख दुख हुआ आप आपको मालूम हो जाता है सबके अंतकण में सुख दुख का प्रकाश करने वाला साक्षी एक है जो बुद्धि को प्रकाश करने वाला साक्षी वही साक्षी सुख दुख को ग्रहण करने वाला है वही साक्षी सपना देखने वाला है स्वप्न प्रपंच को देखने वाला है यदि एक ही साक्षी होगा सबके सुख दुख अनुभव हो वो आपत्ति का कारण होता है साक्षी जिस प्रमाता के साथ तादात्म्य होकर के अनुभव करता है आप जब कहते मुझे सुख हम सुखी दुखी तो कहने वाला है प्रमाता अनुभव करता है तो साक्षी किंतु कहेगा प्रमाता अहम सुखी हम दुखी तो साक्षी का प्रमाता के साथ एकत्व होता है आरोप तादात्म्य आरोप प्रमाता साक्षी में इतने भेद है अंतकण विशिष्ट है प्रमाता अंतकण को विशेषण मानेंगे तो प्रमाता और अंतकण उपहित तो हो गया उपाधि रूप से रखेंगे तो साक्षी हो गया चेतन वही चेतन को प्रमाता कहते अंतकण विशिष्ट होकर के रोही चेतन से साक्षी जब अंतकण को अलग कर देंगे अंतकण उपाधि है तो परिचायक होकर के अंतकण से साक्षी कोटि में अंतकण नहीं है प्रमात्री कोटि में अंतकण है प्रमात्रित्व का आश्रय अंतकण विशिष्ट चेतन और साक्षी के अंतर्गत अंतकण नहीं है अंतकण बाहर अंतकण केवल उसको परिचायक भेदक हो गया उपाधि में और विशेषण में भेद है तो उपहित होकर के साक्षी है किंतु साक्षी का प्रमाता के साथ तादात्म्य आरोप होने से जो साक्षी सुख दुख अनुभव करता है वो प्रमाता कहता है अहम सुखी दुखी सुख दुख का अनुभव आप करते हैं कहता है प्रमाता मैं सुखी दुखी हूँ किंतु जो प्रमाता घटपट को देखता है वही प्रमाता सुख दुख अनुभव नहीं करता है सुख दुख तो अंतकरण का परिणाम है प्रमाता अंतकर्ण के द्वारा घटपट को देखता है अंतकण विशिष्ट इसलिए सुख दुख का अनुभव अंतकण नहीं करता है क्योंकि अंतकर्ण स्वयं सुख दुख रूप से परिणत होता है इसलिए अंतकरण विशिष्ट उसको प्रकाश नहीं करता है साखी चैतन्य प्रकाश करता है तो साखी का अंतकरण उपहित अविद्या उपहित करके जब कहीं-कहीं साखी भेद कहते हैं तो अंतकण उपहित तो अंतकण भिन्न भिन्न होने से साक्षी का भेद व्यवहार कहीं के करते हैं किंतु अविद्या एक ही है अविद्या उपहित तो साक्षी होने से एक ही साक्षी है उसका कुछ कार्य अंतकण भिन्न भिन्न है साक्षी अविद्या एक है तो अविद्या उपहित साक्षी एक है वह प्रकाश करता है सुख दुख को किंतु जो कहता है प्रमाता वो साक्षी के साथ प्रमाता का तादात्म्य होकर के भान होता है कहा जाता है मैं सुखी दुखी जिस प्रमाता के साथ अपन होता है वही प्रमाता जो सुख दुख कहता है तो उसी प्रमात उसी अंतकरण अवच्छेदन जितने सुख दुख उसका ही प्रकाश उसको होता है अन्य प्रमात अन्य अंतकरण अवच्छेदन सुख दुख है उसका प्रकाश एक साखी को है एक साखी को होने पर भी वो प्रमाता में नहीं आया वो प्रमाता उसको नहीं कहेगा जिस प्रमाता में सुख दुख है वो साखी एक का अनेक प्रमाता के साथ तादात्म्य होता है एक ही चंद्र का अनेक घड़ा में जल में सबके में चंद्र दिखता है आकाश दिखता है प्रतिबिंब बने कवा तो अनेक जल में चंद्र का प्रवेश जैसे लगता है संबंध जैसे लगता है एक ही चंद्र होने पर भी इसी प्रकार एक साक्षी का अनेक अंतकण के साथ संबंध जैसे क्योंकि उसका ही प्रतिबिंब होता है उसका संबंध जैसे कहने से सब प्रमाता के साथ एकत्व आरोप होने से जिस प्रमाता के साथ साक्षी का एकत्व आरोप होगा उसी प्रमात्रगत सुख दुख का अनुभव करता है उसी को कहता है और अन्य सुख दुख को वही साक्षी अनुभव करता है किंतु वो साक्षी तत्प्रमाता के साथ एकत्व होकर के एकत्व होता नहीं एकत्व आरोपित तो होता है इसलिए तत्त प्रमातिगत सुख दुख को ही प्रमाता कहता है तत्त अंतकरण में सुख दुख को ही प्रमाता कहता है वह जिस प्रकार एक चंद्र का प्रतिबिंब अनेक घड़े में है अनेक घड़ा अंतकरण जल हिलने पर उसमें चंद्र हिलता है अन्य नहीं एक चंद्र होने पर भी अन्य घड़ा में वो चंद्र हिलता नहीं है जिस जल में कंपन हुआ उसमें हिलता है इसी प्रकार जिस अंतकरण में सुख दुख वही साक्षी उसको प्रकाश कर दिया और प्रकाश होने पर वही सुख दुख अंतकरण में ही है न कि साक्षी में साक्षी तो केवल प्रकाश कर दिया अंतकरण में होने के कारण अंतकरण विशिष्ट चेतन प्रमात कहता है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ क्योंकि अंतकरण में सुख दुख उत्पन्न हुआ साखी केवल उसको प्रकाश कर दिया इसी प्रकार जिस प्रकार चंद्र बिंब रूप है जल में कंपन हो तो प्रतिबिंब में दिखता है बिंब रूप चंद्र में कुछ नहीं है साक्षी में सुख दुख है ही नहीं वो केवल प्रकाश कर दिया और सुख दुख का आश्रय है अंतकरण क्योंकि अंतकरण का परिणाम वृत्ति है इसलिए अहम सुखी अहम दुखी अहम घटम पश्यामि घट ज्ञानवान ये ज्ञान भी वृत्ति ज्ञान उसका आश्रय अंतकण है प्रमाता में व्यवहार होता है साक्षी एक है जिस प्रकार एक शरीर में इस प्रकार सब शरीर में साक्षी एक है नित्य आदि सिद्ध होता है भाष्य में कहा सर्व प्रत्यदर्शित्वे च उपजन अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता नित्यत्वम विशुद्ध स्वरूपत्वम आत्मत्वम निर्विशेषतया एकत्वम च सर्वभूतेषु सिद्धं भवति सर्वप्रत्यदर्शी सर्वान् प्रत्यान पश्यति इति सर्वप्रत्यदर्शी सारे प्रत्ययों को प्रकाश करने वाला सर्व कह देने से केवल आपका नहीं सारे अंतकरण जो प्रत्यय ज्ञान है वृत्ति ज्ञान को दर्शन करता है प्रकाश करता है दर्शक का दर्शन का प्रकाश ज्ञान युक्त तो होने से प्रत्यय में उत्पत्ति नाश है कोई ज्ञान वृत्ति ज्ञान कोई छोटे घट को प्रकाश करे कोई बड़ा को प्रकाश करे कोई मिट्टी घटा को देखता है कोई सुवर्ण हीरे मुकुट को देखता है इसी प्रकार अंतकण में वृत्ति भी नवीन होने पर भी प्रकाश में कोई भेद नहीं है दीप एक है उसके सामने मिट्टी का घड़ा रखो भी प्रकाश करता है चूहा को भी प्रकाश करता है और सोने का मूर्ति लाकर प्रकाश करता है कोई चोरा है तो प्रकाश करता है सर्प है तो प्रकाश करता है जो जैसे हो सबको प्रकाश करता है विषय में भेद है प्रकाश में भेद नहीं वो तो एक रूप है वो प्रकाश करने के लिए वस्तु को प्रकाश करने के लिए दीप में कोई ह्रास वृद्धि नहीं है एक रूप है इसी प्रकार साखी उपजन अपाय वर्जित उपजन वृद्धि अपाय नाश ह्रास ह्रास वृद्धि रहित उत्पत्ति नाश रहित भी वृत्ति में उत्पत्ति नाश है किंतु साक्षी में उत्पत्ति नाश नहीं है वर्जित दृक स्वरूपता उद्रिक रूपे चेव चिद रूपे ज्ञान रूपे और नित्य है वृत्ति की उत्पत्ति नाश होने पर भी वो प्रकाशक नित्य है और विशुद्ध स्वरूपत्वम वो विशुद्ध है क्योंकि साक्ष्य में दृश्य में भेद है प्रकाश सूर्य प्रकाश शुद्ध अशुद्ध सब को प्रकाश करते हैं प्रकाश्य में शुद्धि अशुद्धि है सूर्य में नहीं है वो शुद्ध है इसी प्रकार साक्षी विशुद्ध स्वरूप वृत्ति में तत्तद विषय विशिष्ट वृत्ति जिस विषय का ज्ञान होता है तद विषय की वृत्ति है तो विषय में भेद होने से वृत्ति में भी भेद हुआ किंतु वृत्ति का जो प्रकाश है शुद्ध है विशुद्ध वृत्ति ज्ञान विषय स्वरूप होने से वृत्ति ज्ञान कलुषित होता है विषय विशिष्ट होकर के वृत्ति में कलमसा नहीं है किंतु विषय होने से वृत्ति ज्ञान को भी विषय उप विषय युक्त हो तो शुद्ध नहीं हुआ जो ज्ञान है दो ज्ञान है एक नित्य ज्ञान है जो निर्विषय है शुद्ध ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उसको छोड़कर बाकी जितने ज्ञान सब सब सविषय के है और सविषय ज्ञान विषय विशिष्ट होने से वो वृत्ति विशिष्ट है वो ज्ञान शुद्ध नहीं वृत्ति है किंतु जो नित्य ज्ञान है वृत्तियों का प्रकाशक एक रूप है विशुद्ध स्वरूपतम और वही आत्मा है अत सातत्य गमन है सातिभ्याम मनिन मनिनो अत धातु से मन मनिन प्रत्यय हो जाता है मनिन का मन अणित सत्वता वृद्धि आत्मन बन जाता है निरंतर व्यापक स्वरूप है क्योंकि सारे प्रत्यय को प्रकाश करने वाला परिचन्न नहीं हो सकता है आत्मा है सबका आत्मा स्वरूप है सबका वास्तव स्वरूप ही है जो सर्वत्र अनुगत है सारे प्रत्येक में व्याप्त है वही होता है सत्य आत्मा है एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासनात्मन अन्वय व्यतिरिकाभ्याम यस्य सर्वत्र सर्वदा चतुश्लोकी भागवत में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को उपदेश किया आत्मन तत्व जिज्ञासुना आत्म तत्व को जो जानना चाहता है इतने ही जानना चाहिए अन्य के द्वारा यस्य सर्वत्र सर्वदा जो सर्वत्र हो सर्वदा हो वही आत्मा है सर्वत्र सर्वदा वृत्ति की उत्पत्ति नाश होने पर आत्मा नित्य है और प्रत्येक वृत्ति बिना बिना अंतकरण में अलग होने पर भी सर्वव्यापक है इसलिए आत्मा है सर्वत्र सर्वदा वही नित्य है आत्मा है निर्विशेषता उसमें कोई विशेष नहीं है वृत्ति में तो विशेष हो जाता है विषय के कारण उत्पत्ति नाश होने से अंतकरण का परिणाम अंतकरण भेद से सात्विक राजस तामस किंतु तो उसका प्रकाशक में कोई विशेष नहीं है जिस प्रकार प्रकाश्य घट आदि पदार्थ में विशेष होने पर भी प्रकाशक दीप में भेद नहीं है एक ही दीप सारे वस्तु को प्रकाश करता है इसी प्रकार साक्षी निर्विशेष है कोई विशेष रहित निर्विशेषता और एकत्वम च एक ही है वृत्ति बिना भी है विषय घटपट बहुत पदार्थ होने पर भी एक प्रकाश है इसी प्रकार एक ही साक्षी है सर्वभूतेषु सिद्धम एकत्वम एक शरीर में नहीं सारे शरीर में साक्षी न एकत्वम आत्मन एकत्वम सर्वभूतांतरात्मा युमा पश्यति सर्वत्र सर्वत्र एक ही है वासुदेव सर्वम भगवान कहते सब कुछ वासुदेव कौन से ये सब कुछ नहीं केवल एक ही आत्मा वासुदेव रूपे ये सिद्ध होता है लक्षण भेदाभावात व्योमनैव घट घटगिरि गुहा आदि आदिषु घटगिरि गुहा घट पर्वत के गुहा आदि से मठ कमंडल करक जितने हो सब के अंदर आकाश जिस प्रकार एक है लक्षण भेदाभावात स्वरूप भेद नहीं है सबका एक ही स्वरूप है वो घट आदि को नाम लेंगे तो आकाश का भेद होगा घट गुहा पर्वत गुहा कमंडलु मठ नाम को छोड़ करके आकाश का भेद नहीं बता सकता कोई उपाधि को ले करके उपाधि परामर्श के बिना आकाश का भेद सिद्ध नहीं होता है उपाधि में ही भेद है इसी प्रकार घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान कहते समय घट पट रूप रस विषय को ले करके ज्ञान में भेद करते हैं घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति रूपाकार वृत्ति रसाकार वृत्ति इसमें सब भेद है किंतु वृत्ति का जो साक्षी है प्रकाश रूप उसमें कोई भेद नहीं है इस आकाश के समान एक ही है टीका में विदितत्वा विदितत्वयो साक्ष्यगतत्वेन तदन्यत्वपस्मिन् पक्षे संभवतीत्याह विदितत्वम और अविदितत्वम साक्षी में नहीं है साक्षी से भिन्न जैसे दीप का द्वारा प्रकाशित अप्रकाशित दीप के द्वारा कोई प्रकाशित है कोई अप्रकाशित दीप दीप के द्वारा प्रकाशित है अप्रकाशित है दीप अपने को प्रकाश करता है दीप से भिन्न वस्तु में कुछ प्रकाशित है कुछ अप्रकाशित है जिस वस्तु के साथ दीप का संबंध होगा वस्तु तो प्रकाशित है नहीं तो अप्रकाशित है ठीक इसी प्रकार ये अपने से भिन्न ही साक्षी से भिन्न साक्ष्य कोई विदित कोई अविदित विदित विदितत्व अविदितत्वयो साक्ष्यगतत्व न साक्ष्यगत है क्या है विदितत्व अविदितत्व दोनों साक्ष्यगत है तो विदितत्वम और अविदितत्वम ये दोनों में साक्षी में कौन है दोनों नहीं साक्ष्य में कोई है दोनों साक्ष्यगतत्व न साक्ष्यगत होने से साक्ष्य से भिन्न कोई रहेगा साक्ष्य तदन्यत्वम अपि अस्मिन् पक्षे संभवति विदित अविदित अन्यत्वम अन्य देव तद अविदिता तदि विदित अविदित साक्ष्य जितने साक्ष्य है दृश्य उसे भिन्न है दृग रूप क्षेत्र शब्द से जैसे क्षेत्र क्षेत्र के विवेक त्रयोदश अध्याय में सारे भूत भौतिक प्रपंच अविद्या से लेकर सब हो गए क्षेत्र महाभूता ने अहंकार बुद्धि अव्यक्त में वच कह करके सारे अविद्या से लेकर के सारे कार्य भूत भौतिक प्रपंच हो गई क्षेत्र इसको प्रकाश करने वाला क्षेत्र ज्ञान इसी प्रकार सारे पदार्थ साक्ष्य विदित अविदित सब साक्ष्य है दृश्य अदृग रूप चेतन एक है तदन्यत्वम विदिता विदिताभ्याम अन्यत ब्रह्मेति आगम वाक्यार्थ एवं परिशुद्ध एवं उपसंहृतो भवति ऐसा अर्थ होने से विदिता विदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म ऐसा जो आगम वाक्य आया था अन्य देव तद विदिता तथ अविदिता तदि यह आगम वाक्य श्रुति वाक्य उसका अर्थ है विदित अविदित दोनों से भिन्न ब्रह्म ब्रह्म विदित अविदित दोनों से अन्य है एवं इस अर्थ करने से सारे प्रत्येक का प्रतिबोध विदितम बोधम बोधम प्रति प्रत्येक बोध में अनुगत एक रूप होकर जो रहता है वही आत्मा है ऐसा मानने से वो दृग रूप चेतन साक्षी सारे बोध में अनुगत रूप से प्रकाशक रूप से रहता है वो विदित अविदित सारे से भिन्न है यही परिशुद्ध हो जाता है परिशुद्ध एव उपसंहृतो भवति उसका उपसार हो जाता है शुद्ध जो विदित विदित से ब्रह्म कहा गया था उसका ही उपसार हो जाता है एवं परिशुद्ध वाक्यार्थ का शोधन होकर के निश्चित हो जाता है आत्मा साक्षी विदित अविदित दोनों से भिन्न है सारे प्रत्यय में अनुगत एक रूप है दृष्टेर दृष्टा श्रुते श्रोता मतेर मंता विज्ञातेर विज्ञाता इति श्रुत्यंतरम दृष्टि का दृष्टा है दृष्टि वृत्ति ज्ञान उसका प्रकाशक है श्रुति का श्रोता श्रुति जन्य वृत्ति ज्ञान शब्द का ज्ञान शब्द का प्रत्यक्ष होता है शब्द सुन करके उसका श्रोता है तो जैसे दृष्टि का दृष्टा ऐसे श्रुति का श्रोता से मति का मनता मनन वृत्ति का भी साक्षी है अभिज्ञात विज्ञाता मति और विज्ञाति में मन के परिणाम को मति और बुद्धि के परिणाम को विज्ञाति मत मनन संकल्प विकल्पात्मक बुद्धि निश्चयात्मिका है मति का मनता विज्ञाति का विज्ञाता कह करके सारे वृत्ति का साक्षी है जब दर्शन जन्य ज्ञान दृष्टि कहेंगे उसका दृष्टा श्रवण जन्य ज्ञान को श्रुति कहते तो उसका श्रोता मनन का मनता और विज्ञाति का विज्ञाता किंतु दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता कभी अलग नहीं एक ही साक्षी है अलग-अलग शब्द से कहा साक्षी एक है एक ही चेतन सब ज्ञान को प्रकाश करता है टीका में एक देशी व्याख्यानम उद्भाव्य दूषयति यहाँ तक तो प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व विन्दति का प्रतिबोध विदितम मतम सम्य ज्ञान ये कहा गया किंतु प्रतिबोध विदितम को अलग-अलग कोई कोई अलग-अलग प्रकार व्याख्यान करते कहते एक देशी एक देश को मानने वाले वेदांत का कुछ है कुछ अंश मानते कुछ अंश नहीं मानते संपूर्ण सिद्धांत को नहीं मान के कुछ अंश मानने वाले ऐसा उनका व्याख्यान कथन करते कह दूषयति उद्भाव्य दूषयति उनके व्याख्यान बहुत अलग-अलग प्रकार व्याख्यान है कहीं सो पहले था उसको लेकर के दूषित करती है ठीक नहीं कोई से कहते यदा पुनर्बोध क्रिया करते थी बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति इति प्रतिबोध लक्षणेन विदितम प्रतिबोध विदितमिति व्याख्यायते जब इसे व्याख्या करेंगे प्रतिबोध विदितम का अर्थ करते हैं बोध क्रिया का कर्ता बोध तो अलग-अलग है बोध क्रिया प्रतिबोधक विदितम प्रतिबोध के कर्ता रूप से विदितम जिस प्रकार एक कुलाल अनेक घड़ा बनाता है अनेक घड़ा को बनाने वाला है कुलाल वो कुलाल कौन है जो सब घट बनाने वाला तो साक्षी आत्मा कौन है सारे बोध का कर्ता जो रूप रस ज्ञान होता है वो ज्ञान का कर्ता ही साक्षी है ऐसा कोई कहते हैं बोध क्रिया का कर्ता कोई क्रिया है तो उसका कोई कर्ता होना चाहिए जैसे छेदन क्रिया है तो उसका कर्ता कोई है घट बनाने की उत्पादन क्रिया है तो उसका कर्ता कोई है तो इस प्रकार बोध क्रिया का कर्ता बोध क्रिया का कर्ता को जानने के लिए क्रिया के द्वारा कर्ता का ज्ञान होगा दिखाते जो क्रिया होती उसको बनाने करने वाला ही करता है व्यापार बोध क्रिया लक्षण है ना बोध क्रिया स्वरूप से उसको जान तत्कर्तान भी जानाति छेदन क्रिया हो रहा है कुठार से जो छेदन क्रिया का कर्ता वही चैत्र है चैत्र काष्टम छिन्नति भिन्नति कुठार है ना क्रिया को देखा करके कर्ता को बताते हैं बोध क्रिया लक्षण है ना बोध क्रिया स्वरूप से उस कर्ता को जानता है प्रतिबोध विदितम बोध है क्रिया बोध के कर्ता को जो जानता है वो सम्य ज्ञान है सब बोध ज्ञान क्रिया का कर्ता को जो जानता है बोध लक्षण न विदितम बोध हो गया उसका लक्षण हो गया बोध ज्ञान है उस लक्षण उस लक्षण से उसके कर्ता को जानता है क्रिया को देख करके क्रिया के कर्ता को जानता है तो जो क्रिया का कर्ता हो गया वही प्रतिबोध विदितम क्रिया के कर्ता को जो जान लिया उस समय ज्ञान ऐसा कोई व्याख्यान करते हैं किस प्रकार दृष्टांत दिया यथा यो वृक्ष शाखा चालयति स वायुरित्य तद्वत वायु का लक्षण करने के लिए जानने के लिए कहते यो वृक्ष शाखा चालयति वृक्ष शाखाओं को हिलाता है स वायु तो वृक्ष को देखा शाखा पत्र हिल रहे तो उसी क्रिया से उसके कर्ता वायु है ऐसा ज्ञान निश्चय हो जाता है तो वृक्ष शाखा का कंपन हेतु तो जो वायु इसी प्रकार जो यहाँ वृत्ति ज्ञान है प्रत्येक ज्ञान क्रिया उसका जो करता है वही आत्मा है ऐसा यदि अर्थ करेंगे तब क्या है तथा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा जैसे कुलाल घट उत्पादन का करता है तो घट उत्पादन करने के लिए कर्म व्यापार करता है उसी व्यापार शक्ति वाला है कुलाल उसके पास शक्ति है घट बनाने की शक्ति है कोई पाक करता है तो पाक क्रिया शक्तिमान चैत्र चैत्र काष्टम विनति तो भेदन क्रिया शक्तिमान चैत्र है इसी प्रकार बोधात्मक जो क्रिया वो इसे उसकी शक्ति आत्मा में है शक्तिमान आत्मा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा और जो क्रिया शक्तिमान क्रिया की शक्ति आत्मा में वो शक्तिमान आत्मा द्रव्यम आत्मा द्रव्य हो गया स्वयं बोध नहीं हुआ बोध क्रिया की शक्ति उसी में है उसमें बोध उत्पन्न होगा न बोध स्वरूप एव आत्मा बोध स्वरूप नहीं होगा यह अर्थ आपत्ति है यद्यपि आत्मा को बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंद ब्रह्म तो क्रिया शक्तिमान आत्मा सिद्ध हो जाएगा द्रव्य और बोध उसमें उत्पन्न होगा स्वयं आत्मा बोध स्वरूप नहीं होगा तो फिर बोध कौन है बोधस्तु जायते विनशति च ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है ऐसे घट ज्ञान पट ज्ञान उत्पन्न नष्ट हो गया आत्मा है उसका आश्रय बोध क्रिया का करता और आत्मा बोध स्वरूप नहीं हुआ उसमें बोध उत्पत्ति नाश को प्राप्त करता है ये एक व्याख्यान हुआ तब तो उसमें क्या होता है बोध उत्पन्न होता है नष्ट होता है यदा बोध जायते तथा बोध क्रिया सह विशेष जब बोध उत्पन्न होता है तो बोध क्रिया से युक्त विशेष हो गया आत्मा बोध क्रिया विशिष्ट हो गया बोध क्रिया सह विशेष सविशेष हो गया आत्मा क्रिया विशिष्ट हो गया विशेषण विशेष सब सविशेष सविशेष सविशेष बोध क्रिया से सविशेष हो गया और जब बोध नष्ट हो गया यदा बोध नश्यति तदा नष्ट बोध द्रव्य मात्र निर्विशेष नष्ट बोध स नष्ट बोध आत्मा द्रव्य मात्रम बोध नहीं केवल द्रव्य रहा निर्विशेष निर कभी निर्विशेष कभी सविशेष वही आत्मा सविशेष हो गया वह आत्मा निर्विशेष हो गया वही कुलार कभी घट बनाता है कभी जाकर छोड़ कर बैठ गया सो गया भजन कर रहा है वही घट का करता वही घट द्रव्य छोड़कर जाकर बैठ गया वही काट भेदन करता है कुठार लेकर के कुठार छोड़ छोड़कर जाकर बैठ गया इसी प्रकार आत्मा में कभी ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा सविशेष हो गया और कभी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तो आत्मा निर्विशेष हो गया ये कहते हैं ऐसा मानेंगे तो क्या पति है तत्र एवं सति विक्रियात्मक सावयव अनित्यो शुद्धो इत्यादि दोषा न परिहर्तुम शक्यन्ते इसमें ये तो व्याख्यानता तो अच्छा लगता है किंतु इसमें दोष आया विक्रियात्मक साव्य आत्मा विक्रियात्मक हो जाएगा विकार उसमें आत्मा में होगा विक्रियात्मक तो विकारवान विकार वाला हो जाएगा आत्मा में विक्रिया होगी क्रिया होगी व्यापार हो विकार हो जाएगा और विकार जिसमें होता है सावयव होगा निरवय में तो कोई विकार नहीं होगा सावय मानना पड़ेगा और सावय होगा तो अवयव के नाश नष्ट होगा अनित्य हो जाएगा और जो अनित्य है असावय हो गया अशुद्ध हो जाएगा सावे वस्तु का नाश हो जाता है कोई सावे वस्तु नित्य नहीं होता है इसलिए सावे मानेंगे तो अनित्य हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा ये इत्यादि दोष हुआ दोषा न परिहर्तुम ये इत्यादि दोष है उनका परिहार नहीं किया जा सकता ये आपत्ति आई आत्मा में अनित्यत्व अशुद्धत्व सावयवत्व परिणाम विकारात्मक ये सब दोष रहेगा ये एक व्याख्यान दूसरे व्याख्यान कोई करते हैं एकदशी व्याख्यान यद्यपि कानादानाम आत्ममन संयोग जो बोध आत्मनि समवेति वैशेषिक मत में आत्मा में बोध समवाय समस्य उत्पन्न होता है रहता है आत्मा संयोग से उत्पन्न होता है आत्मा कानादाना आत्मा संयोग जो बोध ज्ञान का समवाय कारण कहते हैं आत्मा और ज्ञान का असमवाय कारण होता है आत्मा मन संयोग ज्ञान है कार्य कार्य न स एकस्नते ज्ञान है कार्य कार्य ज्ञान उत्पन्न होता है समवाय संस आत्मा में वही आत्मा में आत्मा मन संयोग समवाय संस रहता है कार्य सह एकस्मिनते समवेतम सत कारणम समवाय कारण ज्ञान उत्पन्न होता है आत्मा में उसी ज्ञान में आत्मा मन संयोग रहता है वो आत्मा मन संयोग ज्ञान का कारण है वो क्या असमवाय कारण असमवाय कारण होता है आत्मा ऐसे मानते हैं तो आत्मा मन संयोग से बोध आत्मा में उत्पन्न होता है समवाय समझ से समवेति समवाय समझ से रहता उत्पन्न होता है अतः आत्मनि बोधृत्वम न तो विक्रियात्मक आत्मा कहते आत्मा में बुद्धित्व है बोध कर्तृत्व है बुद्धा है ज्ञाता है ज्ञान आश्रय हुआ ज्ञान उत्पन्न हुआ आत्मा में आत्मा हो गया ज्ञान आश्रय ज्ञाता तो हो गया किंतु विक्रियात्मक नहीं आत्मा आत्मा को विभु मानते हैं आत्मा में कोई विकार नहीं है तो तो फिर क्या होगा बुद्धित्व बोध किसी में आत्मा क्या है द्रव्य मात्रस्तु भवति घटैव राग समवाय राग रूप आदि समवाय समस्य घट में रहता है घट द्रव्य है इसी प्रकार जिसमें सुख दुख अज्ञान उत्पन्न होते हैं वो द्रव्य मात्र है आत्मा आत्मा को जड़ मानते हैं तर्क करने वाले बड़े कुशल है कहते चैतन्य बुद्धि उत्पन्न होने पर चेतन होगा आज बुद्धि जो नहीं है वो जड़ है द्रव्य मात्र है घट जिस राग संभाई अश्विनी पक्षेपि अचेतनम द्रव्य मात्रम ब्रह्मेति इनके पक्ष में द्रव्य मात्र ब्रह्म है अचेतन है जड़ है अब बुद्धि उत्पन्न होने पर है चेतन नहीं तो अचेतन है ये यदि मानेंगे तो श्रुति विरुद्ध है विज्ञान आनंद ब्रह्म इत्याद्या श्रुतय बाधिता श्रुति बाधित हो जाएगी ऐसा मानेंगे तो इसलिए ऐसा जो व्याख्यान करते हो ठीक नहीं है श्रुति अर्थ का बात नहीं होना चाहिए श्रुति प्रमाण सबसे प्रबलतम प्रमाण है श्रुति कहते आ ब्रह्म अज्ञान स्वरूप है जड़ अचेतन कैसे होगा टीका में अग्नि संयोगात घट लोहित्यवत अग्नि संयोग से घट घट को पकाते हैं कुलाल घट बनाने के बाद पका करते हैं लाल हो जाता है अग्नि संयोग से घट में लोहित तो उत्पन्न हो गया जिस प्रकार अग्नि संयोग से घट में रक्त रूप उत्पन्न होता है इसी प्रकार आत्मा में मन का संयोग होगा अग्नि संयोग कहां करने से घट लाल होगा काष्ठ के साथ अग्नि का संयोग हो गया घट लाल हो जाएगा घट के साथ अग्नि का संयोग आवश्यक है होने से अग्नि घट लाल हो गया इसी प्रकार मन का संयोग हो गया आत्मा के साथ आत्मा के साथ मन का संयोग हुआ तो आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हो गया मन संयोगात असंभव कारणात असंभव कारण कौन है ज्ञान का आत्मानुसय मनुष्य का मनुष्य की असमय का ना उससे ज्ञान का समय का आत्मा है आत्मनि अचेतने चैतन्य उत्पद्यते आत्मा अचेतन है जड़ उसमें चैतन्य उत्पन्न होता है तंतु में जैसे पट उत्पन्न होता है आत्मा में से चैतन्य उत्पन्न होगा तंतु पट नहीं है पट तो पहले नहीं था उसे पट उत्पन्न होगा इस प्रकार आत्मा चेतन नहीं है जड़ है उसमें चैतन्य ज्ञान उत्पन्न होगा अचेतन में चैतन्य उत्पद्य थे इतेतत् न केवलम श्रुति विरुद्धम असंभावितम चेत्या श्रुति विरुद्धते आत्मा को जड़ मानते अचेतन अचेतन मानेंगे तो श्रुति विरुद्ध है विज्ञान मानंत ब्रह्म सत्यम ज्ञान मानंत ब्रह्म चेतन है आत्मा ये केवल श्रुति विरुद्ध नहीं असंभव भी है आत्मनो निरवयत्वे आत्मन निरवयत्वेन भावान नित्य संयुक्तत्वस्य मनुष्य स्मृति उत्पत्ति नियमानुपति मानते हैं आत्मा को निरवय मानते तार्किक लोग और विभु मानते हैं विभु आत्मा का प्रदेश अवयव है अवयव कितने हैं निरवय है अवयव नहीं है पृथ्वी जल तेज वायु सावयव आकाश निरवय है आत्मा इस प्रकार निरवय है आकाश का जैसे अवयव नहीं इस आत्मा का अवयव नहीं निरवय है निरवय होने से आकाश का जैसे अवयव नहीं आत्मा का भी अवयव नहीं प्रदेश अभावात निरवयत्व तो न प्रदेश अभावात आत्मा निरवय होने से उसका प्रदेश नहीं अवयव नहीं और विभु का लक्षण करते हैं सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम मने मूर्त आत्मा है विभु घटपटादि जितने मृत सब के साथ आत्मा का संबंध रहता है आत्मा विभु है विभु होने के कारण सारे मृतों के साथ संयोग मन भी मूर्त है तो मन का संयोग रहेगा तो सर्व मृत नित्य संयुतत्वाच मनस मन के साथ आत्मा का नित्य संयोग है कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा नहीं आत्मा विभु है मन मूर्त है मूर्त के साथ आत्मा का संयोग रहेगा और ये नहीं कि एक देश में संयोग उसको हट जाएगा दूसरे दिन संयोग होगा ये मान सकते हैं पुस्तक सावैव है पुस्तक के हस्त का संयोग हुआ एक देश में संयोग हुआ नष्ट हो गया दूसरे देश में हुआ अन्य देश में हुआ अलग-अलग देश में पुस्तक का हस्त पुस्तक संयोग हो गया ये तो संभव है क्योंकि पुस्तक सावैव है और इसका ये विषय छोटा है तो कहीं-कहीं संबंध हो गया आत्मा निरवय है तो मन का संयोग आत्मा के साथ हुआ तो फिर कब संयोग नहीं रहेगा वहां से हट जाएगा तो मन का संयोग आत्मा में रहेगा ये पट में देखो इसका संयोग है कलम का संयोग है पट से हटा दिया तो अभी कलम का संयोग पट में है क्योंकि पट यहाँ नहीं है यहाँ पट है यहाँ नहीं यहाँ रखेंगे तो ये आलोक के साथ कलम का संयोग है यहाँ से यहाँ हटा दे तो कर्म से आलोक संयोग रहेगा आलोक संयोग कोई कहेगा नहीं आलोक संयोग भिन्न हो गया क्योंकि इसमें जो आलोक था वो आलोक यहाँ अलग है संयोग भिन्न है क्योंकि आलोक भी सावयव तेज है और निरवयव में एक अवयव का संयोग था दूसरे अवयव का संयोग आई बनेगा सावयव तो बनेगा आत्मा निरवय है यहाँ मन का संयोग है मन छोटा है यहाँ संयोग आत्मा है और यहाँ से हट गया तो आत्मा मन संयोग रहेगा यहाँ भी आत्मा है थोड़ा ऊपर चलेगा तो आत्मा है बहुत दूर चढ़ जाएगा तो सर्वत्र आत्मा है आत्मा से मन हटा तो आत्मा मन संयोग नष्ट हो गया किंतु आत्मा के साथ मन संयोग नहीं रहेगा वो संयोग नष्ट हुआ कहेंगे तो आगे संयोग जहाँ जाए कहीं भी मन जाए आत्मा के साथ उसका संयोग हुआ नित्य संयोग है तभी तो आकाश विभु आत्मा विभु होगा आत्मा को तो विभु मानते हैं सर्वमृत द्रव्य संयुक्तम एक मन का नहीं आपके आत्मा का संयोग सबके मन के साथ है केवल मन के साथ नहीं घट पर्वत वाणी जितने शुद्ध अशुद्ध जितने पदार्थ सबके साथ आप के आत्मा का संबंध है नित्य संबंध है नित्य संयुतत्वाच मन का आत्मा के साथ नित्य संयोग हुआ यदि नित्य संयोग हुआ ज्ञान के लिए कहते आत्मा मन संयोग कारण प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए आत्मा संयोग कारण स्मरण के लिए आत्मा संयोग कारण अभी जितने संस्कार आपके तार्किक लोग कहते संस्कार आत्मा में रहता है वेदांत वेदांत गण में मानते हो आत्मा में कहते हैं आत्मा में संस्कार रहता है सब जितने वस्तु का अनुभव किया था संस्कार है जिन जिन का वस्तुओं का स्मरण होता है आपको संस्कार है तो तत्स्मरण होता है अभी जो प्रत्यक्ष पुष्प आपको प्रत्यक्ष दिखता है ये पुष्प का प्रत्यक्ष होते समय और किस किस वस्तु का स्मरण होता है देखने के बाद स्मरण होगा पहले स्मरण होगा प्रत्यक्ष ज्ञान काल में दूसरा स्मरण नहीं होता है अभी कोई अभी आपको दूसरा स्मरण होता है नहीं होता है स्मरण हो सकता ना नहीं होता है जिसका भी स्मरण आपने किया उसका संस्कार पुष्प पुष्प को देखते समय था या नहीं था था तभी तो बाद में स्मरण हुआ जिस समय पुष्प को देखते उस समय क्यों स्मरण नहीं हुआ अनुभव काल में क्यों स्मरण नहीं हुआ संस्कार दिया आत्ममन संयोग ज्ञान के लिए आत्ममन संयोग का कारण प्रत्यक्ष देखने के लिए आत्ममन संयोग हो गया और आत्मा में संस्कार रहता है तो ज्ञान प्रत्यक्ष काल में भी स्मरण हो जाए ये है स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपपत्ति स्मृति उत्पत्ति का नियम ग्रहण काल से भिन्न काल में स्मृति की उत्पत्ति होती प्रत्यक्ष काल में नहीं ये नियम नहीं बनेगा अनुपति अप्रमाण हो जाएगा ये दोष का परिहार नहीं कर सकते अपरिहार्य स्याद अनुपपत्ति रूप दोष का परिहार दोष निवृत्त नहीं होगी दोष रहेगा ये तो ज्यादा यहां विचार नहीं किया अन्य ग्रंथ विचार होता है संयोग होगा कैसे मन भी निरवय है आत्मा भी निरवय है और संयोग होता अव्याप वृत्ति जैसे रूप इस द्रव्य में रूप व्याप्त होकर के इस द्रव्य में रूप व्याप्त होकर के रूप होता है व्याप्य होकर व्याप्य वृत्ति और संयोग इस द्रव्य के साथ एक हमारा हस्त का संयोग है है नहीं ये व्याप्य वृत्ति संयोग है रूप जहाँ जहाँ है संयोग वहाँ यहाँ है संयोग एक ही देश में यहाँ है तो यहाँ नहीं है बाहर है तो अंदर नहीं है देखो ये बाहर है अंदर नहीं है संयोग व्याप्य वृत्ति है नहीं अव्याप्य वृत्ति रूप व्याप्य वृत्ति है रूप व्याप्य वृत्ति है सब देश में व्याप्त है सावय पदार्थ में एक देश में संयोग अन्य देश में संयोग नहीं सावय होने का और निरवय पदार्थ में एक देश में संयोग एक देश में संयोग नहीं निरवय पदार्थ में कितना वैव है जो नहीं थे एक देश में एक अवय में संयोग हुआ अन्य अवय में संयोग नहीं हुआ मन भी निरवयव आत्मा भी निरवयव निरवय दोनों का संयोग कैसे होगा आपको तो संयोग होता है एक देश में होता है एक देश में नहीं होता है बंदर बैठा पेड़ के ऊपर वृक्ष कपि संयोग है ना नहीं सारा वृक्ष में सर्वत्र संयोग है सारा बंदर में सर्वत्र वृक्ष संयोग है एक, एक देश में एक देश में नहीं हो सावे में तो हो जाएगा निर्वय आत्मा में संयोग कैसे बनेगा इसलिए सृष्टि के से विचार आया ये कहते परमाणु से द्वणु को त्रिअणु को उत्पत्ति होकर के परमाणु को नित्य मानते दो परमाणु मिलने पर द्वणु को हो जाएगा ये वस्तु दोनों सावयव है ये दोनों सावय है ना नहीं दोनों मिल गया देखो लंबा बढ़ गया बढ़ गया ना नहीं लंबा और एक मिला और लंबा बढ़ गया सावय वस्तु में बढ़ता जाएगा लंबा नहीं तो ऐसे से रखो तो बहुत परिमाण परिमाण बढ़ जाता है अब परमाणु दोनों निरवय है निरवय दोनों की मिलाएंगे तो संयोग होगा नहीं होगा तो मिलकर एक ही हो गया और परमाणु मिला एक हो गया और मिला एक हो गया पूरा पूरा संयोग सावयव नहीं है तो दो परमाणु का संयोग कैसे होगा बताओ ये भी निरवय ये भी निरवय और दोनों का एक देश में संयोग होगा एक देश में नहीं होगा दोनों परमाणु का संयोग कर देखो इसमें दोनों का पूरे पूरे अवयव में संयोग हो गया ना नहीं पूरा अवयव में नहीं इस देश में देश में नहीं है कुछ देश में संयोग कहा नहीं है और निरवय वस्तु में इसका संयोग बनेगा वही तो प्रश्न है उनसे पूछो <laughs> आपने न्याय पढ़ाया था आपने बताओ आप बताओ निरवय में संयोग कैसे बनेगा सावे में तो हो जाता है निरवय में कैसे संयोग होगा दो परमाणु का संयोग होगा तो द्विअणु का बनेगा तीन द्रोण का बनेगा तो मिलेगा तो त्रिभुवन का बनेगा आगे घट आदि पर्वत आदि बनेगा दो परमाणु का संयोग नहीं पाएगा तो सृष्टि कैसे बनेगी परमाणु को कहते नित्य ये पहले आत्मा संयोग कैसे बनेगा यदि होगा नित्य संयुक्त हो जाएगा और नित्य संयोग तो स्मृति उत्पत्ति नियमानुपपत्ति रूप दोष रहेगा इसका परिहार नहीं हो सकता है टीका में देखो नियम कैसे प्रदेशवत्ता प्रदेशवत्तो लोके संयोग दृष्ट लोक में कभी संयोग आपने देखा है प्रदेशवता सावयवेन सह सावयव का संयोग दिखा गया हस्त पुस्तक का संयोग प्रदेशवता प्रदेश अवयव अवयव वाले के साथ सावयव वाला का संयोग घट भूतल का संयोग कपि वृक्ष का संयोग हस्त पुस्तक संयोग ये दिलोक में दिखा गया आत्मन निष्प्रदेशत्वाद आत्मा में कोई प्रदेश अवयव है ही नहीं निरवयव है निरवय होने के कारण मन सा संयोग न संभवती मन के साथ संयोग हो नहीं सकता है मन भी निरवय ये भी निरवय वो सावय हो तो भी संयोग नहीं होगा आत्मा तो निरवय है इतु उत्तम पूरा भी कहता तदयुतम ये क्या कहते हो तार्किक लोग कहते नहीं अयुत ठीक नहीं क्योंकि आत्मा है विभू सर्वमूर्त द्रव्य संयुक्त विभूतम ऐसा पढ़ा है न्याय में एक साथ सर्वमूर्त संयुक्त हो जाता है तभी तो आत्मा सर्वगत आत्मा सर्व में सर्वगतत्वं किम युगपत सर्वमूर्त संयोगित्वम सर्वगतत्वम आत्मनस तभी आत्मा विभू है सर्वगत है सर्वगत होने के लिए क्या चाहिए एक साथ सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम सारे मूर्त द्रव्य के साथ संयोग हुआ तो सर्वगत आत्मा सर्वगत है मन मूर्त है तो मन के साथ आत्मा का संयोग हो जाएगा केवल एक मन नहीं सब मन केवल मन नहीं पृथ्वी जल तेज जितने मूर्त सारे मूर्त के साथ आत्मा का संयोग एक साथ हो जाएगा तभी तो सर्वगत होगा ततो मनस संयोगोपि इति चे तो मन का भी संयोग हो जाएगा मन मूर्त है इसे सारे मूर्त के साथ आत्मा का संयोग होता है एक साथ तो मन का भी संयोग हो जाएगा इति चे तत्र नित्य नित्य संयुक्त यदि संयोग मानेंगे तो नित्य संयोग होगा अप्राप्त और प्राप्ति संयोग पहले अप्राप्त है यहाँ ये अप्राप्त है उसका पुस्तक के साथ संबंध हुआ संयोग हुआ नित्य मन आत्मा के साथ संयुक्त है तो कभी उसका हटा हटेगा नहीं कैसे विभाग होगा हटेगा तो भी तो संयोग रहेगा नित्य संयुक्त रहेगा नित्य संयुक्त होने से क्या होगा मनस स्मृति उत्पत्ति नियम नहीं बनेगा टीका में ग्रहण कालाद अन्य काल एवं स्मृति नाम स्मृति अनुभव काल में नहीं प्रत्यक्ष ग्रहण काल से अन्य काल में श्रुति होती है और जितने विषय का संस्कार है सब विषय का स्मरण करो बैठ करके एक साथ स्मरण हो जाएगा नहीं होता है यदि कुछ स्मरण कर लिया तो अभी व्याकरण स्मरण किया है कोई व्याकरण स्मरण करता है तो, तो समा काल की अकायता स्मरण करता है नहीं करता है इसी प्रकार एक साथ दो वस्तु को दो तीन के आज का काल का व्याकरण का और अन्य ग्रंथ का और भोजन का एक साथ दो का स्मरण नहीं होता है एक साथ स्मरण होना चाहिए क्रम से क्यों होता है ये होता है क्रमेण उत्पत्ति रीति नियम स्मृति नाम क्रमेण बैठ रहा है ध्यान करके बैठा है और कभी इधर चलता है कभी उधर चला गया कभी उधर सोता है कभी इधर सोता है तो ध्यान काल में मन कभी इधर उधर जाता है क्या विषय का स्मरण करता है एक साथ सब का स्मरण करता है नहीं कितने विषय कितने ये नहीं कि रोज भी सब एक विषय स्मरण कभी किसका स्मरण कभी किसका अभी बैठ कर बैठ रहा है कितने स्मरण करता है कभी अपने बाल्य अवस्था में क्या स्मरण कर दिया कभी काल का स्मरण कर दिया कल एक साल पहले क्या होता स्मरण करता है कभी किसी व्यक्ति का स्मरण कभी किसी द्रव्य का स्मरण कभी किसी स्थान का स्मरण कितने कितने स्मरण होता है तो मन में स्मृति उत्पत्ति होती क्रम से ये नियम नहीं बनेगा वैशेषिक मत के अनुसार कणाद महर्षि के मत वैशेषिक क्रमेण उत्पत्ति नियमों वैशेषिक से नोपपद्यते नहीं होगा एक साथ ही सब होना चाहिए संस्कार थे ग्रहण काल भी स्मृति उत्पत्ति प्रसंग आच जब ग्रहण प्रत्यक्ष होता है उस समय स्मृति उत्पत्ति होनी चाहिए क्योंकि संस्कार है संस्कार वाला आत्मा के साथ मन का संयोग है यही तो स्मृति का कारण संस्कार वाले आत्मा मन संयोग से स्मरण होता है संस्कारवत आत्मा मन संयोग बराबर होने से क्योंकि ग्रहण जब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसके लिए आत्मा मन संयोग कारण है या नहीं आत्मा मन संयोग है और आत्मा में संस्कार है संस्कार वाले आत्मा मन संयोग हो गया तो उसमें स्मरण हो जाए और सर्वगतत्व जो आत्मा में कहते हैं सर्वगतत्व च सर्वा व्यवधान मात्रम न तो संयुक्तम कल्पनीय तो कहते हैं हमारे तो कहा गया आत्मा सर्वगत सर्वगत मतलब क्या है एक स्थान में था सब और चला गया आत्मा सर्वगत मतलब क्या है एक स्थान में था तो संकेत दिया तो दौड़ करे सब पल गया ऐसा हुआ सर्वतर सर्व सब के साथ संबद्ध है सर्वगत सर्वगतकात सबके साथ संयोग हो गया तो सिद्धांत कहते सर्वगत सर्वगतकात आकाशवत सर्वगतस्य नित्य आकाश जैसे सर्वगत है ऐसा आत्मा सर्वगत सर्वगत का नहीं सबको गया सब में जाकर स्थित जाकर रहा ऐसा नहीं पहले नहीं था जाकर पहुंच गया ऐसा है आकाश कहीं नहीं था जाकर पहुंच गया आत्मा कहीं नहीं था जाकर पहुंच गया ऐसा अर्थ नहीं सबके सर्व अव्यवधानम सब किसी के साथ किससे व्यवधान नहीं व्यवधान दीवाल आपके व्यवधान है आपसे आपके बीच में दीवाल का व्यवधान है किस किस से क्या दीवाल का व्यवधान हो सकता है जो दीवाल में पीठ लगाकर बैठते हैं किंतु पेड़ का व्यवधान है अव्यवधान है पेड़ के साथ व्यवधान है है नहीं व्यवधान है अव्यवधान हुआ व्यवधान हुआ किंतु आकाश का अव्यवधान किसके पास आकाश का व्यवधान है बताओ आकाश का व्यवधान नहीं है अव्यवधान ये सर्व अव्यवधान मात्रम सर्वगत का अर्थ आकाश सर्वगत सबसे अव्यवधा अव्यवहित है व्यवधान नहीं है बीच में थोड़ी जाकर छूट जाएगा आकाश और आपके बीच में कितने जगह व्यवधान रहेगा आपके अंदर भी आकाश है बाहर भी है कुछ थोड़ा सा भी कहीं जगह छूटेगा नहीं इसी प्रकार आत्मा सर्व अव्यवधान का अर्थ सर्वगत का अर्थ सर्व अव्यवधान मात्रम न तो संयोगित्व कल्पनीय अब सर्वगत होने के लिए सबके साथ संयोग होना चाहिए संयोग होने की आवश्यकता नहीं है संयोग नहीं होने पर भी सर्वगत हो सकता है कव इतिहा सर्वधर्मित्वं च आत्मन श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात् संसर्ग धर्मित्वम अच्छा संसर्ग धर्मित्वम संसर्ग के संबंध संबंध का धर्मी आत्मा का संबंध होता है सबके साथ संसर्ग संबंध का धर्मी संसर्ग रूप जो धर्म उसका आश्रय आत्मा संयोग रूप धर्म का आश्रय आत्मा नहीं है ये कल्पित कल्पना करेंगे जो कि श्रुति स्मृति न्याय विरुद्ध है श्रुति विरुद्ध स्मृति विरुद्ध न्याय विरुद्ध ये बताएंगे कि कैसे विरुद्ध है ओम आप्यायन्तु मम